यहां तक कि जब इनमें से किसी पर मौत आ खड़ी होगी तो वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार मुझे वापस भेज दीजिए